कभी भी अमंगलमय वेश न धारण करें स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करें उद्धत उन्मत्त मूढ़ अविनीत शीलहीन अवस्था और जाति से दूषित अधिक अपव्ययी वैरी कार्य में असमर्थ निंदित धुर्तों का संग करने वाले निर्धन विवाद करने वाले तथा अन्य अधम पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करें सुहृद यज्ञ दीक्षित राजा स्नातक तथा ससुर इनके साथ मैत्री का भाव रखें जब ये घर पर पधारें तो उठकर खड़ा हो जाएं साथ ही अपने वैभव के अनुसार इनका पूजन करें प्रतिवर्ष अपने घर आए हुए ब्राह्मणों का वैभव के अनुसार स्वागत करें अपने घर में यथा स्थान देवताओं का भली भांति पूजन करके क्रमशः अग्नि में आहुति दें पहली आहुति ब्रह्मा को दूसरी प्रजापति को तीसरी गृहाओं को चौथी कश्यप को तथा पांचवी अनुमति को दें तत्पश्चात बलिवैश्य देव करें देवताओं के लिए पृथक-पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पण करें उसका क्रम इस प्रकार है एक पात्र में पहले परजन्य जल और पृथ्वी को तीन बलियां दें फिर पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करें तत्पश्चात मध्य में क्रमशः ब्रह्मा अंतरिक्ष और सूर्य को बलि दें उनके उत्तर भाग में विश्व देवों और विश्वभूतों को बलि दें फिर उनके भी उत्तर भाग में उषा और भूतपति को बलि समर्पित करें तदंतर प्रत्यभ्य स्वधा नमः यूं कहकर दक्षिण दिशा में अपसभ्य होकर पितरों के लिए बलि दें और वायव्य दिशा में अन्न का शेष भाग तथा जल लेकर यक्षई मत्तते निर्णय जन्म यह मंत्र पढ़कर उसे विधि पूर्वक छोड़ दें फिर देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार करें दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर की ओर जो एक रेखा होती है वह ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है उसी से आचमन किया जाता है तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है नांदे मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए अंगुलियों के अग्र भाग में देव तीर्थ है उसी से देव कार्य करने का विधान है कनिष्ठिका के मूल भाग में काय तीर्थ प्रजापति तीर्थ है उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए अन्य तीर्थों से कदापि नहीं ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है पितरों का श्राद्ध और तर्पण पितृ तीर्थ से देवताओं का यज्ञ यागादि देव तीर्थ से और प्रजापति का कार्य काय तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है नांदी मुख नाम वाले पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण आदि कार्य प्रजापत्य तीर्थ से करने चाहिए विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न लें गुरु देवता पिता तथा ब्राह्मणों की ओर पैर न फैलाएं बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़ें अंजलि से पानी न पिएं शौच के समय विलंब न करें मुख से आग न फूकें ब्राह्मणों जहाँ ऋण देने वाला धनी चिकित्सा करने वाला वैद्य श्रोत्रीय ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये चार न हो वहां निवास नहीं करना चाहिए जहां शत्रु विजयी बलवान और धर्मपरायण राजा हों वहीं विद्वान पुरुष को सदा निवास करना चाहिए दुष्ट राजा के राज्य में कहाँ सुख है जहाँ पूर्वासी परस्पर संगठित और न्यायानुकूल बर्ताव करने वाले हों तथा सब लोग शांत एवं ईर्ष्या रहित हों वहां निवास भविष्य में सुख देने वाला होता है जिस राष्ट्र में किसान बहुत हों परंतु वे बहुत घमंडी न हों तथा जहां सब तरह के अन्न पैदा होते हों वहीं बुद्धिमान पुरुष को निवास करना चाहिए ब्राह्मणों जहां अपने को जीतने की इच्छा रखने वाला मनुष्य पहले का शत्रु और सदा उत्सव में ही मग्न रहने वाले लोग ये तीन सदा मौजूद हों वहां कभी निवास नहीं करना चाहिए जिस स्थान पर अच्छे स्वभाव वाले पड़ोसी हों दुर्धर्ष राजा हों तथा सदा खेती उपजाने वाली भूमि हो वहां विद्वान पुरुष को रहना उचित है विप्रवरों इस प्रकार मैंने तुम लोगों के हित के लिए ये सब बातें बताई हैं अब मैं भक्ष और भोज्य की विधि से संबंध रखने वाली बातें बतलाऊंगा घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य होता है गेहूं जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हों तब भी वे पूर्ववत ग्रहण करने योग्य होती हैं शंख पत्थर सोना चांदी रस्सी कपड़ा साग मूल फल मणि हीरा मूंगा मोती पात्र और चमस इन सब की शुद्धि जल से होती है लोहे के पात्रों एवं हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर यानी शान पर रगड़ने से होती है जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है सूप मृगचर्म मूसल ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है बलकल वस्त्र की शुद्धि जल और मिट्टी से होती है मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं भिक्षा में प्राप्त अन्न कारीगर का हाथ बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो ऐसी वस्तु और सेवकों द्वारा बनाई हुई वस्तु सदा शुद्ध मानी जाती है जो बहता हो तथा जिससे दुर्गंध ना आती हो ऐसा जल शुद्ध माना गया है समय अनुसार अग्नि से तपाने बुहारने गाय के चलने फिरने लीपने जोतने और जल छिड़कने से भूमि की शुद्धि होती है बुहारने आदि से घर शुद्ध होता है जिसमें बाल या कीड़े पड़े हों जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियां पड़ी हों ऐसे पात्र की शुद्धि के लिए राख मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए तांबे का बर्तन खटाई से राना और शीशा जल से और कांसे के बर्तन राख और जल से शुद्ध होते हैं जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ी हो उसे मिट्टी और जल से तब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए इससे वह शुद्ध होता है धूल अग्नि घोड़ा गौ छाया किरणें वायु भूमि जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी दूषित नहीं होते बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं बछड़े का मुंह तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है पेड़ से फल गिराते समय पक्षी के चोंच भी शुद्ध मानी गई है आसन शैया सवारी नदी का तट और तृण ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की भांति सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं सड़कों और गलियों में घूमने फिरने स्नान करने छींक आने हवा खुलने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए पक्की ईंट के बने चबूतरे आदि में यदि कोई अस्पृश्य वस्तु गलियों की कीचड़ या जल आदि लग जाए तो उसकी शुद्ध केवल वायु के स्पर्श से हो जाती है अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर लें तो तीन रात उपवास करने से शुद्धि होती है और यदि जानबूझकर किया हुआ हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है रजस्वला स्त्री नवप्रसूता स्त्री चांडाल तथा मुर्दा ढोने वाले मनुष्यों से छू जाने पर शुद्ध के लिए स्नान करना चाहिए मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध होता है और सूखी हड्डी का स्पर्श करने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से वह शुद्ध हो सकता है थूक और उबटन को न लांघें जूठन मलमूत्र और पैरों के धोवन को घर से बाहर फेंकें दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि में पांच लोदे मिट्टी निकालने बिना स्नान न करें देवता संबंधी सरोवरों और गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करें